और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा या हक को झुठलाया जबकि वो उसके पास आ चुका हो क्या जहन्नुम में काफिरों के लिए ठिकाना नहीं है